हाँ पेंसिल होना ये बच्चों को ज्यादा होता है बड़ों को कम इसकी सबसे अच्छी औषध है हड़क टॉन्सिल हड़क हड़क हड़क लेने का कैसे अगर ताजा हड़क है तो पीस के उसका रस निकालना और वो एक चम्मच रस सीधे पिलाना और अगर हड़क सूखी है तो एक चम्मच छोटी हड़द का छोटा चम्मच गले में डालना अंदर करके जीप पर नहीं गले में डाल हम्म, सीधे डाल और उसको फिर कुछ करना नहीं वो अपने आप नीचे जाएगा देर लगेगी लेकिन जाएगा और अगर हम्म? हड़द और ये अगर आपने डाल दिया गले में और ये उतर गया तो दो ही तीन बार डालिए हफ्ते भर में या दो हफ्ते में उतने में टॉन्सिल ठीक कर देता एक ही बार सुबह सुबह तीन दिन कर दो चार दिन कर दो बस लेकिन हर रोज नहीं एक दिन किया तो दो तीन दिन बात करना फिर दो तीन दिन बाद वो बच्चे को ले रहे सीधे तो हड़प जो है ना लाल के साथ मिलके अपने आप अंदर जाएगी सप्ताह में अगर दो दिन भी दे दिया तो तीन चार सप्ताह में ठीक कर देगी होता क्यों है वो बताता